नहीं कर सकता हूं ठीक से पता तो रहता ना भैया कितने देर से गुस्सा था आपसे पर हम तो बात कर रहे हैं सुबह से आ रहा और कितना कितने साल हो गए दिखा कितने दिन हो गए बड़ा लखड़ा झाड़ दो आप एक छोटी सी गलती होगी ना किसी ने तो पूरे दस दिन का उसका रखा लोगे तब तक वो बंदा की सॉरी नहीं कहेगा और तभी भी सॉरी कहने में क्या दस घंटे रहते हैं इधर आके बात सामने सामने बात करो अभी अंकल अंकल मेरा हाथ मेरा हाथ तो छोड़िए एक बार हंसते मत बोलो तो हंसते हुए कहाँ बात कर रहे तुम तुम अंकल तो- ये हटाए ना हाँ चल बट सुबह तो मैंने अच्छे से भाई भैया से बात किया था तो तुम्हारी तरह नहीं मैं तुम्हारे हाँ, तो तुमसे... तो हो गए हाँ हो गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा तो कभी इरिटेट ना गुस्सा हो जाता तो हर जगह मेरे को हाँ मेरे को मन है इसलिए ज़्यादा नहीं बट तुमसे बहुत ज़्यादा होती है मुझे कुछ करना है नौकरानी नौकरानी बन के लो हाँ। ठीक है ज़्यादा अपने लिमिट समझ जाओ दिन भर खेलते रहते हैं दैट्स इट और कुछ हां एनी एडिशनल उस दिन उस दिन नोटिस के दिन इतना बड़ा खरोच है ना अब बोली मैं तुम तो हाथ तक नहीं लगाती हूँ अब बोलना बोलो गलती से ओहो हो हो ले तीन चार बार खरोच चुके हो ये चारों बार गलती से होता है चार बार गलती से हो जाते हैं चार बार गलती से हो जाते हैं एकदम जाके बहू रानी की वो कर ले एक्टिंग हाँ, हाँ, तुमसे very funny very funny it shows what kind of great kind hearted people you guys are I तो हम जो जो लोग अच्छे होते हैं मुझसे मोहन रोज अच्छे से बात करती हूँ ये तो जो लोग अच्छे होते हैं गंदे होते हैं वो सबसे गंदी से ही बात करती है नो मैटर पता है अंकल पता है अंकल भैया का फ्रेंड संदीप पार्टी उसके लिए इतना कदर करती है बोलती है मैंने उसको तो कुछ बोला उसके बारे में मजाक किया इतना कदर करती सर में उसको हर्ट फीलिंग हो जाएगा उसको ये हो जाएगा घर के लोगों के लिए कोई है ही नहीं कुछ ऐसा बस संदीप विष्णु सबका नंबर बाथरूम में रख रखा होता है चिपका हुआ होता है हर जगह संदीप भैया विष्णु भैया अविल भैया सम्यक भैया अपूर्व भैया साहिल भैया कार्तिक भैया किसी का नाम भूलना मत बात वही तो सबका नंबर एक होगा मेरी फ्रेंड का नंबर एक अच्छा। सबका नंबर मैं मां हाँ, तो तो बहुत है अगर है ना कमाई तो अगर है तो मुझे एक खबर अगर नहीं है मैं एक खबर नहीं है तो हम्म। उसी ने कहा था अपने बाथरूम में लिखा है से मैंने पता देख के चेक कर चेक कर लो आपका बाथरूम में बदबू आया आप उसी ने कहा था ओके चेक कर लो बताइए शर्ट किसने दिया जिसने पूछ रहा है जब दो, तो पूछ रहा है ना वो मम्मी से तो पूछा ही नहीं होगा अच्छा मैंने तुमसे कहा था पूछेगा तुमने मुझसे मुझे बोल रहे अभी और मैंने आपको बताया था कि मम्मी ने हाँ ना कहा तुमने तो कभी मुझे बताई नहीं है तो और तो- पहना क्यों और कमाई नहीं तुम्हें मम्मी हाँ करेगी तभी आपको पहनना था हाँ अभी से पहनना शुरू हो गया क्या हाँ क्या मैं, हाँ? मैंने तुम्हें बोला भी था मम्मी से पूछ लो नहीं मम्मी को तो पूछा ही नहीं ऐसे अपने ऑर्डर से दे दिया बस दे तो नहीं दिया तो था तो मेरे ही कबड़ में तो रखा हुआ था सिर खा रही होगी और जीन्स नहीं पहन रही है मेरे ही कबड़ में रखा हुआ था ये शर्ट तो फिर तुम बोलती कबड़ तो मेरे ही में रखा था ऐसे कह रहे जैसे मैंने आपको दे दिया था और आपके बैग में पड़ा होता मेरे कबड़ में पड़ा होता ये शर्ट क्या चीज ये शर्ट झूठ मत बोल खुद दिए खुद दिए पांच मिनट से मैं इसको कह रही हूँ अभी बोलना शुरू हुआ है थोड़ा सोच लिया होगा ना थोड़ा खुद दिए कमाई नहीं तुम ऐसा मत बोला करो ठीक है दूसरों पे एग्जाम डाल देते यार कुछ भी कुछ भी क्या कुछ भी तुम कुछ कुछ भी बोल रहे हो That's it. That's it.